तृतीय अध्याय के द्वितीय मंत्र के भाष्य को ऊपर विचार आरंभ होना है कुछ भाष्य हो गया था टीका चल रही थी जिसमें इस मंत्र में कहा था यदि तत् हृदय मनश्च तो प्रजाओं का जो सारभूत हृदय माने बुद्धि है मन भी यही है और यही एक मन ऐसा है सभी इंद्रियों का व्यापार सभी इंद्रिय यही हो जाता है अनेक रूप से काम करता है मन ही है सब कुछ क्यों मन के बिना कोई इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती है मन के होने पर ही इंद्रिय में सत्य है काम कर सके मन के बिना नहीं होता इसलिए मन को ही श्रेष्ठ माना है यही एक है उस उपलब्धा का उपलब्धि के लिए कारण यही एक मन है उस आत्मा के लिए उपलब्धि के साधन यही एक मन है ऐसा कहा था उसी के वृत्तियां ये सारे संज्ञान आज्ञान आदि है मन की वृत्ति है और मन के साथ में अभेद होने के कारण तादात्म्य अभ्यास होने के कारण वो आत्मा के नाम कहे गए संज्ञान आज्ञान आदि यद्यपि आत्मा तो नाम रूप से रही थे आत्मा का कोई नाम नहीं है किंतु औपाधिक नाम उस मन के साथ में तादात्म्य हो जाता है तो मन की जो वृत्तियां हैं उसको लेकर के नाम कहा गया ये सब मंत्र में बातें हो गई थी तो टीका चल रही थी कुछ भाष्य हो गया था टीका में तथा के आगे चलना है कौशिक की उपनिषद में मन को ही सब कुछ कहा है करके आया भाषण में कहा था तथा जो कौशिक की नाम प्रज्ञया बाचम समारूह बाचा सर्वाणी नामानी आपनोति प्रज्ञया चक्षु समारूह चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आपनोति दो पदार्थ है नाम और रूप प्रज्ञा मन चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा हाँ, वो जो मन है वाचम समारूह अंतकरण चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा बाघ इंद्रिय में आरूढ़ होता है या बाज का तो बाघ इंद्रिय बाघ इंद्रिय में आरूढ़ होता है बाचा सर्वाणी नामानी आप लेते बाघ इंद्रिय के द्वारा जितने भी शब्द जगत है उसको माप लेता है हाँ। उस चिदाभास युक्त बुद्धि के द्वारा अंतकरण बाघ इंद्रिय में एक होकर के आरूढ़ होकर के बाघ इंद्रिय से अभिन्न होकर के और बाघ इंद्रिय का जितने विषय है शब्द जगत उसको पूरे प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार प्रज्ञा चक्षु समारूह है वह प्रज्ञा अर्थात कोई चिराभास युक्त बुद्धि की बुद्धि के द्वारा वो अंतकरण चक्षु इंद्रिय में समारूढ़ होकर के चक्षु इंद्रिय से अभिन्न होकर के चक्षुषा सर्वाणी रूपाणी आत्मा चक्षु के द्वारा सारा आकृति को माप लेता प्राप्त करता है ऐसा कौशिक मन ही है अंतकरण ही है सारा करने वाला इत्यादि आज बाजसन एक बाजसन वृद्धार्थ में कहा मनसा ही में पश्यती मनसा श्रृणती ऐसा आया मन से ही देखता है माने चक्षु से अभिन्न होकर के मन से देखता है चक्षु में प्रविष्ट होकर के मन ही देखता है चक्षु और श्रोत्र में आरूढ़ होकर के शब्द सुनने वाला भी मन है ऐसा मनसा ही एवं पश्यती मनसा से और भी कहा हृदय ही रूपाणी जाना हृदय माने मन यदि तद हृदय मनस्य ये तथा ऐसा कहा था मंत्र हृदय शब्द का तो मन ही है यही मंत्र में कहा था हृदय ने रूपाणी जाना थी जो रूप है नाम और रूप दो जगत है रूप जगत जितने भी हैं आकृति विशेष और इसी मन के द्वारा ही जानता है तब तक इंद्रिय में आरूढ़ होकर के तब तक इंद्रिय विषय जानता है ऐसा इत्यादि तस्मात हृदय हृदय मनोवाच्य से सर्वो उपलब्धि करना तुम प्रसिद्ध हृदय का अर्थ मन है मन का बाच्य है सर्व उपलब्धिकरण है मन मन का बाच्य अंतकरण संपूर्ण उपलब्धि का कारण वही है माने तत्त इंद्रियों में आरूढ़ होकर के तत्त इंद्रियों का विषय का वही ग्रहण करता है मन तो सर्व उपलब्धि ज्ञान के साधन बताया मन को बताया ये प्रसिद्ध है कहा टीका में कहते हैं इसका अर्थ करते हैं प्रज्ञा या वाचम आदि का टीका में अर्थ निकालते हैं प्रज्ञा या मैंने चिराभाष युक्त या बुद्धिया प्रज्ञा शब्द का बुद्धि बुद्धि कैसे बुद्धि खाली जड़ बुद्धि नहीं चेतन युक्त बुद्धि चिराभास विशिष्ट बुद्धि प्रज्ञया माने चिराभास युक्त या बुद्धिया वाचम माने करणम या बाच शब्द का करण शब्द नहीं लेना है वाचम समारूह बाघ इंद्रिय में आरूढ़ होकर के हाँ। मान चिराभास युक्त बुद्धि के द्वारा जो अंतकरण बाघ इंद्रिय में समारूढ़ होकर के बुद्धे बाघात्मा परिणाम सती जब बुद्धि बाघ रूप में बाघ इंद्रिय रूप में परिणत हो गई ऐसा हो जाने पर तद बुद्धि द्वारा उस बुद्धि के माध्यम से स्वयं अपनी आत्मा बाघाभिमानी भूतवा वो बुद्धि के साथ आया हुआ है तो आत्मा भी चिरावास विशिष्ट बुद्धि है वो वो बागिंद्र से अभिन्न होने से जब बुद्धि बागिंद्र से अभिन्न हो गई तो वो जो आत्मा भी स्वयं पे आत्मा बाघाभिमान होता बागिंद्र के अभिमानी होगा अनंतरम बाचो भी बुद्धि व्यापार रूपाया नामात्मा वक्तव्य शब्द रूप में परिमाण क्षति उसके बाद बाघ इंद्रियों को क्या करता है शब्द रूप में परिणत करता है बाचो की बुद्धि व्यापार रूप है बुद्धि के व्यापार रूप है बाघ उसको भी नामात्मना शब्द जगत जो शब्द रूप से वक्तव्य शब्द रूप परिणाम से वक्तव्य जो शब्द होगा उस रूप से परिणाम कर देने पर होने पर बाचा मान बाघ द्वारा सर्वाणी नामा आपत्ति वाणी के द्वारा यही सब कुछ प्राप्त करता अंतकर्म माने वाणी से अभिन्न होकर के वाणी का जो वक्तव्य विषय है वो विषय इसी का माना जाता है तत्पूर्णात्मना स्वर्ण तो वर्तते उसमें पूर्ण रूप से वो भी रहेगा तब तक शब्द जगत की पूर्ण रूप से स्वयं भी वहां रहता है तब तक तत्पूर्णात्मना स्वयं अति वर्तते स्वयं में छवि टिप्पणी सर्वनाम अपन स्पूर्ण रूपेणा आत्मा अपनी अवतिष्ठते करता जितने भी नाम जगत है नाम जगत और रूप जगत दो जगत है तो वाणी में आरूढ़ होकर के नाम जगत को प्राप्त कर लेता सारा तो नाम जगत क्या है सर्वनाम तारात्म्य करना सभी नाम में तारात्म्य होकर के माने स्वयं ये चिरावास युक्त बुद्धि के द्वारा अंतकरण बाघेन्द्र से अभिन्न होकर के बाघेन्द्र का विषय होता है शब्द जगत हाँ। उसमें तादात्म्य प्राप्त करके स्वयं सर्वनाम सर्व जो नाम जगत नाम रूप जगत है उसको तादात्म्य होकर तादात्म्य होकर पूर्ण रूपेण अस्थिभाति प्रिय रूपेण आत्मा अभी अवतिष्ठते शब्द है इत्यादि प्रिय रूप से आत्मा भी वहां पर अवस्थित हो जाता है अंतकरण जब गया तो अंतकरण के साथ आत्मा है आत्मा भी वहां पर अस्थि प्रिय रूप से पूर्ण रूप से रहता है अस्थि अस्थि शब्द अस्थि नाम अस्थि इत्यादि आगे <coughs> एवं प्रज्ञा इसी प्रकार रूप जगत को भी संपूर्ण प्राप्त करता है वह अंतकर्म चक्षु के माध्यम से चक्षु इंद्रिय के द्वारा अभिन्न होगा फिर चक्षु का विषय जो रूप होगा आकृति नाम रूप जो ही तो जगत है तो रूप जगत को भी प्राप्त करता है एवं इसी प्रकार जैसे बाघ इंद्रिय से अभिन्न होकर के वाणी के विषय को अपना विषय बना करके सबको प्राप्त करता है अंतकरण उसी प्रकार एवं प्रज्ञा चक्षु इत्यादि सु अपि अर्थो द्रष्टव्य प्रज्ञया भूतवा इत्यादि वही अर्थ समझना जैसे बाद इंद्र में बताया सब रूपों को प्राप्त करता है समझना का अत्र बुद्धेर बाघादि आत्मना परिणाम हो बुद्धि का तो पहले परिणाम होगा बाघादि रूप से बाघ इंद्रिय रूप से बाघ इंद्रिय से अभिन्न होना बाघादेश से नामादि आत्मा परिणाम होता है बाघादि इंद्रियों का नाम रूप से शब्द रूप से परिणत होना कहा ये कहा है और मनसा हेव पश्यति इत्यत्र जो वृद्धा में पाया मनसा हेव पश्यति मनसा श्रृणती यहां क्या कहा होगा कहते हैं मनसा हेव पश्यति इत्यत्र मनसा साक्षात दर्शनादि करना तो आयोगा मन के साक्षात देख नहीं सकता है चक्षु के माध्यम से देखेगा साक्षात मन देख नहीं सकता चक्षु के माध्यम से देखना होगा मनसा पश्यति में कोई चक्षु इंद्र से अभिन्न होकर के देखता है कहना यही है अर्थात वही है ये कहा मनसा ही एवं पश्यति इत्यत्र मनसा साक्षात दर्शन करण तो रहेगा मन में साक्षात दर्शन का कारण तो नहीं बनेगा दर्शन के साधन नहीं हो सकता चक्षु है वो इसलिए चक्षुरादि भावम आपन्न से ऐसा अर्थ करना वहां चक्षुरादि भाव को प्राप्त हुआ जो अंतकरण मन है वह दर्शनादि कारण तो होता वही मन को कहा दर्शनादि का कारण बताया साक्षात मन देख नहीं सकता है चक्षु से अभिन्न होकर के देखता है अर्थ देखने का नाम चक्षु का है तो अंतकरण जब चक्षु रूप से परिणत हो जाता है तब देखता है एक ही करण है उपलब्धा के विषयों की उपलब्धि के लिए एक ही करण होता है अंतकरण ये बोलना चाहते इसमें उत्तम इति भाव का एवं हृदय ने ही इतरापि द्रष्टव्यम हृदय ने ही रूपाणी जाना थी भाई हृदय से मतलब मन है वो उसके द्वारा रूप को जानता मैंने चक्षु के साथ अभिन्न होकर के रूपात्मक जगत को जानता है नाम रूप दो तो जगत है जो वृद्धात्म कहा था हृदय ने रूपाणी जाना थी वहां भी ऐसे अर्थ करना हृदय नहीं इतरता भी दृष्टि ऐसे अर्थ करना मान वो जी हृदय का अपना मन है तो मन से ही जानता है कहने के लिए क्या करना उसके चक्षु के साथ में अभेद करके जानना आदि शब्द न इत्यादि कहा है भाष्य का इत्यादि आदि शब्द से क्या लेना तो कहते हृदय ही एवं रूपाणी प्रतिष्ठिता भवंती रूपाणाम हृदय शब्द बुद्धियात्मकत्व उत्तम संग्राही कहा हृदय एवं रूपाणी प्रतिष्ठानी बहुत हृदय में ही ये रूपात्मक जगत नामात्मक जगत रूपात्मक जगत दो रूप में है नाम रूप तो रूपात्मक जगत जो है हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं यह समझना हृदय मैंने मन में सात की टिप्पणी कहा तब पन्ना ही बहुत उसी मन में तादात्म्य है जगत यह समझना यह कहा भवंती थी रूपाणाम हृदय शब्द बुद्धियात्मकत्व उत्तम रूप जो है हृदय शब्द के द्वारा बुद्धि है बुद्धि स्वरूप है आज जितने भी रूपात्मक जगत है वो बुद्धि ही है हृदय शब्द के द्वारा बुद्धियात्मक है बुद्धि से अभिन्न है हमारे मन में वृत्ति बनेगी तो है नहीं तो नहीं है मन ही है ऐसा कहना चाहते हैं एवं एवं हृदय से सर्व कर्णात्मत्व उगता इस प्रकार से हृदय माने मन है वो अंतकरण वो संपूर्ण करण रूप है तब तक कर्ण होकर के वही देखता है वही सुनता है सब वही है एवं हृदय से सर्वकर्णात्मत्व कर्णात्मत्व उगता संपूर्ण करण स्वरूप हृदय है माने मन है अंतकरण इति उगता इधानी तस्य प्राणात्मत्व प्राण रूप भी वही है सारे इंद्रिय रूप वही होते हुए प्राण रूप भी वही है कहना चाहते हैं कैसा तदात्मक प्राण कोई हृदय माने हृदयात्मक प्राण है अंतकर्म रूपी प्राण है तदात्मक प्राण कहा चार की टिप्पणी में कहा हृदय मनोवाच्य अंतकरणात्मक जो हृदय मन कहा था यदि तद हृदय एतत मन मन ये आगा वही है हृदय शब्द का वाच्य जो अंतकरणात्मक है प्राण भी अंतकरण है प्राण बाहर का करण तो नहीं है भीतर का करण अंतकरण है वो भी तदात्मक हो ये कहा क्योंकि यो वै प्राण सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण इति ही ब्राह्मण कौशित की ब्राह्मण में ऐसा कहा है यो वै प्राण जो प्राण है सा प्रज्ञा प्रज्ञा माने बुद्धि अंतकरण है वो या वै प्रज्ञा जो बुद्धि है स प्राण अभेद किया दोनों का यो वै प्राण सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा सा सो प्राण ऐसा कहा सपना तो जो बुद्धि है वही प्राण है जो प्राण है वही बुद्धि है ऐसा अभेद दिखाया हुआ इसमें ठीक है एवं हृदय मनो द्वारा प्राण से सर्वकरणात्मक सर्वकर्णात्मत्व इस तरह से हृदय रूपी जो मन है मन के माध्यम से मन से अभिन्न होने से प्राण क्या होगा सर्वकरणात्मक प्राण है सर्वकरण प्राण जो मन सर्वकरण हो गया था उसे अभिन्न प्राण मन से एवं ही एवं हृदय मनो द्वारा हृदय रूप जो मन है हृदय शब्द का वाच्य मन उसके द्वारा प्राण से सर्वकर्णात्मक होता तो प्राण भी सर्वकर्णात्मक हो गया क्योंकि मन सर्वकर्णात्मक है उससे अभिन्न प्राण सर्वकर्णात्मक होता साक्षात एवं प्राण से अब कहते हैं साक्षात ये होगा ये तो मन के माध्यम से कर्णात्मक बना था प्राण सर्व सबका कर्म बना था किंतु साक्षात भी प्राण सबका कर्म है प्राण के बिना कुछ भी नहीं होता ये दिखाना चाहते हैं भाष्य में कहा कर्ण संघति से प्राण इति अबोचाम प्राण संवाद आदव कहा कर्म संघात रूप ही प्राण है अंतकरण का पुंज ही तो है वो कर्म संगति से प्राण इति अबोचाम यह हम कह गए कहा कहा जहां प्राण संवाद आदि आया वृद्धार्थ में आया छांदोग्य में आया वहां कहा प्राण संवाद आदि में कहा कर्ण संवेद कारण के संघात रूपी प्राण है ये कहा टीका में कहते हैं कैसे है तो उसको दिखाते हैं तब अयम स्मह इंद्रियों ने आखिर में कहा जब एक एक करके बाहर निकलने लग गए मेरे बिना नहीं चलेगा प्रजापति ने कहा था जिसके बिना ये नहीं चलेगा ये शरीर पापिष्ठ हो जाएगा वही इसमें बड़ा है ऐसा बोला था तो सबके मन में अभिमान था सब में अभिमान था चक्षु ने कहा मेरे बिना नहीं चलेगा एक साल के लिए चली गई आई तो चल रहा था पिंड केवल अंधा आदमी जिस तरह से काम एक चक्षु से काम नहीं कर पाता बाकी तो करता ही खाता पीता सोता वो हर इंद्रियों की स्थिति ऐसी होगी माने शरीर नाश नहीं हुआ ये पापिष्ट नहीं हुआ पापिष्ट नहीं हुआ जब प्राण निकलने लगा तो निकलने लगते ही सब उसी में उखड़ने लग गए सारे मुख्य प्राण निकलने लगा तो सारी इंद्रिया उठने लग गए तब कहते हैं तब वयम स्मान वयम तब स्मान हम आपके हैं प्राण के लिए ऐसा बोलने लगे सारी इंद्रिया हम आपके हैं और न सक्षम स्तोदृत जीवित हम आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकते आपके साथ ही हमारा जीवन है आप निकलेंगे तो हमें निकलना पड़ेगा इसलिए आप यही रहिए ऐसा प्रार्थना करने लगे न सक्षम तो रीते जीवितों भयम हम लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं हमारा जीवन नहीं मिलेगा ऐसे बोलने लगे इंडिया ये कहा इतरे चक्षुरादय प्राणा इतव आख्यायते ऐसा कहा इसलिए बाकी जितने भी चक्षुरादि हैं प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है इसलिए उनको प्राण रूप से कहा जाता है इतरे चक्षुरादय वहां में कहा है बाकी जो चक्षुरादि जितने भी हैं प्राणा इतवा थे प्राण इस शब्द से ही कहे जाते हैं क्यों प्राण के बिना जीवन नहीं है प्राण निकल जाए तो उनको निकलना पड़ता है तो इसलिए प्राणी कहा जाता है ये प्राणी होते हैं ये कहा चार की टिप्पणी कैसे आयत करें न वही बाचो न चक्षुंसी न स्त्रोत्राणी न मनोंशी की आचक्षते ऐसा नहीं कहते हैं वाणी भी नहीं कहते हैं चक्षु भी नहीं बोलते हैं स्त्रोत्र भी नहीं मन भी नहीं प्राणा इतव आक्षक्षते ऐसे बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग प्राण ही बोल देते हैं सबको ये वाणी है ये चक्षु ऐसा नहीं बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग क्यों उनके दृष्टि में तो एक ही प्राण ही है प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है नवई बाचो ये छांदो विस्तृत ने कहा नवई बाचो न चक्षुषी वाणी नहीं कहते चक्षु को भी नहीं मानते कहते हैं स्त्रोत्र को भी नहीं न मनांशी मन को भी नहीं क्यों प्राणा इतव आचक्षते प्राण ही कहते हैं ब्रह्मता लोग प्राणो ही एवं सर्वाणी भवती प्राण ही यह सब कुछ होता था है चक्षु बाघ मन जो भी है प्राण ही होता है ऐसा कहा इति छांदो की स्तुति छांदो में ऐसा कहा प्राण शब्द ही नहीं उच्चनते प्राण शब्द के द्वारा ही कहा जाता है न तो बाघ शब्द से कहा जाए न स्रोत्र से न चक्षु न मन तब तक इंद्रियों के नाम से नहीं कहे जाते प्राण शब्द से कहे जाते ऐसा कहा आदि शब्द है ना और आदि शब्द से क्या है वृद्धार्मिक उपनिषद के वाक्य ला के दिखाया अंत अशैव सर्वे रूपम असाम हम लोग इसी के रूप में एक हो जाए ऐसे इंद्रों ने विचार किया तो जब इसके बिना हमारा जीवन नहीं है अंत मन इधानीम अश्व अश्व रूपम असाम सर्वे सर्वे वयम अश्व रूपम असाम हम इसी के रूप में एक रूप हो जाए ये प्राण के साथ एक हो जाए ऐसा और ते एत सर्वे रूपम होगा ते माने इंद्रिया जितने भी इंद्रिया है ते सर्वे एतस्य व रूपम होगा ये सब के सब इंद्रिया ये प्राण रूपी हो गए ऐसा वाक्य आता है तस्मात एते एते न आख्या इसलिए एते इंद्रिया जितने भी है बाघादि इंद्रिया एते मैंने प्राण प्राण रूपेण आख्या है प्राण नाम से कहे जाते हैं प्राण इति प्राण शब्द से कहा प्राण इति प्राणा बोलते हैं इनको न बाघ बोलते ना इंद्रिया बोलते हैं बाणी आदि नाम नहीं लेते तस्मा एते एतेन इसलिए इंद्रिया सब के सब इसी प्राण नाम से कहे जाते हैं प्राणा इति भाव तत्कुलम आचक्षते यशमिन कुल जिस कुल में होता है उसी कुल का नाम से पुकारा जाता है प्राण में है इसलिए प्राणी कहा जाता है जिस कुल में होगा उसी कुल के नाम से कहा जाएगा ऐसा आया इत्यादि ग्राह्य कहा इत्यादि लेना बोला ठीक है मैं देखें इतने चक्षुराधय प्राण अध्यान इत्यादि प्राण शब्द संवाद वचन वाला ये प्राण संवाद के वचन है वेदार्थ में छांदों के भी इंद्रियों के संवाद के वचन है इसके बल से कर्ण संगति रूपत्म कारण समूह रूप कर्ण समूह रूपतम कारण के संघात स्वरूप है प्राण अने समूह रूप है वो प्राण से अवगतम प्राण समूह रूप है सभी उसी में प्रविष्ट है सारे प्राण में सभी इंद्रिया प्रविष्ट है ऐसा दिखाई पड़ता है इन वाक्यों के द्वारा कहा प्राण में देखा गया वो तो करण के संघात समुदाय स्वरूप है और कर्ण में समूह रूप है वो ऐसा प्राण से अवगत ऐसा कहा आदि शब्देना संपर्क विद्यादिगतम और आदि भी है वहां कर्ण शब्द रूप से प्राण यदि अवचाम प्राण संवाद आदौ आदि से क्या लेना कहते छांद में जो संपर्क विद्या है उसमें भी प्राण की महिमा गाई है आदि शब्द में संवर्ग विद्याधिगतम प्राणमेव पेती आया है जब मरणासन व्यक्ति में होगा तो पानी प्राण में ही लीन हो जाती है प्राणमेव पेती प्राणम चक्षु सब प्राण में लीन हो जाते हैं अतः सुश्रुति काल में देखा है सुश्रुति में सब प्राण में लीन हो जाते हैं अध्यात्म प्राण में और मरण काल में अधिदैव प्राण में लीन हो जाते हैं प्राण बाबा संपर्क ऐसा आया हुआ है ये कहते हैं आदि सब सम्र विद्यादिगतम में एवं बाघप्य प्राण में ही वाणी का लीन होना लय होना होता है इस काल में प्राणम चक्षु और चक्षु भी प्राण में ही लीन हो जाती है प्राणम श्रोत्रम श्रोत्र भी प्राण को ही प्राप्त होता है प्राणम मना मन भी प्राण को ही प्राप्त होता है यहाँ पर तो सुसुप्ति की बात है अध्यात्म प्राण में और अध्याय प्राण में मरण काल में प्रलय काल मृत्यु काल वो भी प्राण ये भी प्राण है समष्टि प्राण में लीन होंगे उस काल में इस समय व्यष्टि प्राण में लीन होंगे ऐसा कहा प्राण को ही संपूर्ण रूप बताया और भी है स यदा थे प्राणाद यदि पुनर्जात जब सुसुप्ति से उठता है प्राण में लीन हो गए थे सारे ये इंद्रिया फिर स यदा प्रतिबुद्ध जो सोया हुआ व्यक्ति जब जगता है जागृत अवस्था में आता है तब प्राणाद यदि पुण्य जाए फिर वे प्राण से ही पुरुष व्यक्ति भी उत्पन्न होता है उस समय शरीर भी नहीं था सुसुप्ति प्राण से ही जगता प्राण से ही आता है ऐसा कहा इत्यादि वाक्य ग्राह्यम या आदि शब्द से इत्यादि वाक्य लेना कहा कर्ण से अनात्मत्व उत्तम उपसंगति कर्ण आत्मा नहीं यहां दो आत्मा सुनाई पड़ रहे हैं एक प्राणात्मा पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट है और एक चेतन आत्मा जो मूर्धा से प्रविष्ट है इससे क्या सिद्ध हुआ अब तक की कहानी से बताएं करण से अनात्मत्व उत्तम उपसंग करण रूप जो आत्मा है अनात्मा है वो प्राण वो मुख्य आत्मा नहीं तस्मात इत्यादि राशि में आदेश तस्मात यद प्रपदाभ्याम प्राप्त होते जो पैर के अग्रभाग से पैर के अंगूठे के अग्रभाग से प्रतिष्ठा हुआ है वो जो ब्रह्म एक ब्रह्म ऐसा ब्रह्म प्राप्त था वो ब्रह्म ये तद उपलब्धूर उपलब्धि करने का इस उपलब्धा का उपलब्धि साधन करण है विषय प्राप्त करने के साधन है उपलब्ध के साधन है वो ये जो तस्मात यद प्रपदाभ्याम प्राप्त ब्रह्म जो पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ जो ब्रह्म है प्राण रूप ब्रह्म सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ है तद उपलब्ध वो जो प्राण है ये तद ये जो प्राण ब्रह्म उपलब्ध उपलब्धि कारण तक उपलब्धा का उपलब्धिकरण रूप से उपलब्धि के साधन रूप से उपलब्धा जो आत्मा उसके साधन रूप से है वो गुणभूतत्व गौण आत्मा है वो मुख्य आत्मा नहीं है वो इसलिए नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवित मरती इसलिए यहां ये, ये मुख्य वस्तु उपास्य आत्मा नहीं हो सकता ये सिद्ध हो गया जो प्राणात्मा है वो मुख्य आत्मा नहीं हो सकता वस्तु उपास्य वस्तु नहीं हो सकता है कोई हम आत्मा वयम उपासना ये है आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं तो विचार किया तो दो आत्मा दिखाई दे रहे थे एक पैर के अग्रभाग से प्रविष्ट हुआ एक मुर्गा से उनमें से पैर से अग्रभाग से आने वाले को कारण रूप में निश्चय किया हुआ ऋषियों तो ये उपास्य नहीं हो सकता कहा पारिशेष दो ही आत्मा के प्रवेश होना ही पड़ा है यहां अब परिशेष न्याय लग जाएगा अब जब इसका निषेध हो गया तो दूसरा जो बचा हुआ है वही आत्मा उपास्य है चिंतनीय है ये सिद्ध होगा ये कहा पारिशिष्य यश्य उपलब्ध उपलब्धता ये तस्य मन हृदय से जिस उपलब्धा के उपलब्धि के लिए यश्य उपलब्ध जिस उपलब्धा का उपलब्धता उपलब्धि के लिए एक हृदय से मनोरूप से करण से वृत्त ये सारे वृत्तियां हैं मन के संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान मेधा आदि उपलब्धि के साधन हैं ये वृत्तियां जिस उपलब्धा का यश उपलब्ध परिशेष न्याय से जिस उपलब्धा का उपलब्धि के लिए ये हाँ, तस्य हृदय से ये हृदय है हमारा ये मन मनोरूप से जो मनोरूप अंतकरण रूप हृदय है इसका कारण से वृत्त जो वृत्तियां हैं जो संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान वेदा आदि बोलेंगे ये वृत्तियां सोलह वृत्तियां दिखा दिया बक्षमाण मंत्र में आगे कहे जाने वाले हैं ये वृत्तियां आगे कहेंगे संज्ञान आज्ञान आदि कहा है बक्षमाण स उपलब्ध उपास्य आत्मा वही उपलब्धा जो है उपास्य आत्मा वही है वही उपास स उपलब्धा उपास्य आत्मा नो भवित उपर रहती वही उपास्य आत्मा हमारा हो सकता है ना है अस्मा का हमारे आत्मा वही हो सकता इति निश्चय कृतवंत इस प्रकार से निश्चय किया ऋषियों ने ये कहा टीका ब्रह्म कहा था प्राण के लिए माने ब्रह्मत्व उपास्यो ज्ञातव्य आत्मा इत्यर्थ तो ब्रह्म रूप से उपास्य आत्मा नहीं हो सकता वो ज्ञातव्य आत्मा या उपास्य माने ज्ञातव्य ज्ञातव्य आत्मा नहीं हो सकता ये कहा तभी कस तथा ज्ञातव्य फिर उपास्य माने ज्ञातव्य रूप से जानने योग्य आत्मा कौन है प्रश्न उठा तो था तस्मात इत्यादि कहा था तस्मात पारिशेष्या इत्यादि अच्छा पारिशेष्या पारिशेष्या परिशेष न्याय लगने से क्या होगा यश उपलब्ध उपलब्धर्था यश्य मनोरूप से कर्म से वृत्ति जिस उपलब्धता के उपलब्धि के लिए ये मन के वृत्तियां जितने भी हैं संज्ञान आज्ञान आदि वृत्तियां हैं उपलब्धि के लिए साधन है जिस आत्मा की उपलब्धि इन्हीं के माध्यम से मैंने इनके साक्षी रूप से जानना है उसको ये मनोवृत्ति के साक्षी है वो मन में कौन सी वृत्ति बनी जान रहा है उसी रूप से आत्मा को जानना है जो तो प्रतिबोध मतम केनो परिषद में वही बातें यहाँ उस मनोवृत्ति के साक्षी रूप से जानना आत्मा को और कोई साधन नहीं है यही है तो यही कहना चाहते हैं वक्षमाण मैंने संज्ञानम इत्यादि ना वक्षमाण संज्ञानम अज्ञानम इत्यादि शब्द से कही जाने वाली वृत्तियां हैं इन वृत्तियां का जो दृष्टा बना हुआ है साक्षी है उसी रूप से जानना है तो मनोवृत्तियों को जो जानता है वह आत्मा है जो लोहे को जलाता है वो अग्नि है जो वृक्ष को हिलाता है वो वायु है ऐसे ज्ञान होता है वायु दिखता नहीं है पता नहीं लगता लेकिन जो वृक्षों को कंपन कराता है वो वायु यही ज्ञान होता है वायु का ज्ञान अमान से सिद्ध होना है किसी प्रकार आत्मा के भी आना ये कहना चाहते हैं अच्छा, टीका में कहते हैं आगे एडवा पश्यति मनस मनस्च एतत इति अंतम ये दो मंत्रों को लेकर के विचार करते हैं पूर्व मंत्र में एनवा पश्यति एनवा श्रीवती इत्यादि करता है जिसके द्वारा सुनता है देखता है वो मन के द्वारा ही देखना मन के द्वारा सुनना भी नहीं तो कर दिया तब तक इंद्रियों में आरूढ़ होकर के मन ही देखता है चक्षु में आरूढ़ होकर मन देखता है स्रोत्र में आरूढ़ होकर मन सुनता है इत्यादि एक बार पश्यति पूर्व मंत्र है वो प्रथम मंत्र है और मनसस से ये तब ये मन ही है करके देता यदेत हृदय मनस देता ये द्वितीय मंत्र है यहां तक यदवा पश्यति के लिए करके मनसा से ये दोनों मंत्रों मिला करके प्राण से कर्णत्व यहाँ यही निश्चय हुआ है प्राण करण है निश्चय हो गया वो जानने के साधन है ये सिद्ध हो गया ये नवा परिस्थिति के द्वारा वो मन के द्वारा ही देखता है माने चक्षु में आरूढ़ हुआ मन के द्वारा देखता है यह अर्थ है वो प्राण के विषय में चर्चा होगी वो मन और प्राण को अभेद किया तो इसलिए ये नवा पश्यति इत्यादि मनसश्च अंतम इतने मंत्र भाग हैं इन मंत्रों के द्वारा इस मंत्र के द्वारा प्राण से कर्णत्व आत्मत्वार्थम या अनात्मत्वार्थम नहीं आत्मत्वार्थम करण जो होगा आत्मा के लिए होगा आत्मा जो उपकरण है साधन है प्राण से कर्णत्व आत्मार्थत्व आत्मा के लिए है प्राण तो कर्ण है वो आत्मार्थत्व कर्णत्व आत्मत्वार्थम आत्मा के लिए है माने करण जो होता है किसी कर्ता के लिए होता है देखने वाले व्यक्ति के लिए दर्शन क्रिया भी होते हैं ये कारण रूप में है प्राण कर्णत्वेन अनात्मत्वार्थम नहीं है आत्मत्वार्थ आत्मत्वार्थम यदि उक्त ये आत्मा के लिए है प्राण उपलब्धता के लिए साधन है बोला ना उपलब्धता आत्मा है उसके साधन है कारण आत्मा के लिए है कोई भी उपकरण होगा किसी उपलब्धता के लिए काम में आते हैं तो कहा ये नवा पश्चिम इत्यादि मनसस् एतत् यहां तक इतने मंत्र भाग प्राण से कर्णत्व प्राण को कर्ण सिद्ध किया इतने तो बोला ना आत्मत्वार्थम हेतु है प्राण आत्मा के लिए है ये प्राण माने उपास्य नहीं है वो तो आत्मा के लिए साधन है ये सिद्ध होने से उपवा संज्ञान इत्यादि बस इति अंतम ये सोलह है संज्ञान से लेकर के बस तक सोलह शब्द है ये ये मन के वृत्तियां हैं संज्ञान आज्ञान प्रज्ञान मेधा वृद्धि ज्योति योगी होगा तो संज्ञानम इत्यादि बस इति द्वितीय मंत्र में जो संज्ञानम अज्ञानम इत्यादि है बस अंतिम है संज्ञान शुरू का है यहां पर इति अंतकरण वृत्ति द्वारा या अंतकरण की वृत्ति के द्वारा दिखाना चाहते हैं आत्मा को अंतकरण की वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा को जाना जाता है अंतकरण में कौन सी वृत्ति बनी है हमको पता लग जाता है जिसको पता लगता है वो आत्मा है कौन सी वृत्ति बनी है दिखता है अंतकरण की वृत्ति को दिख देखा देखा जाता है कौन सी वृत्ति बनी है रूपाकार रसाकार जो भी वृत्ति बनी होगी आपके अंतरण आपको पता होता है जो अंतकरण की वृत्ति का साक्षी है वो आत्मा ये सिद्ध करना आत्मा को जैसे जो वृक्ष से शाखा हम चालाए थे सब आयु जो वृक्ष की शाखा को हिलाता है वो वायु है ऐसा बोला जाता है इस प्रकार यहां भी अंतकरण की वृत्ति की जो दृष्टा बना हुआ है देख रहा है वो आत्मा ये ऐसा निर्णय करना आत्मा का ये बोलना चाहता है ये कहा ये नवा पश्यति इत्यादि यहां से आरंभ करके मनस से तथ्य इति अंतम यहां तक प्राण से कर्णत्व प्राण को कर्ण निश्चय किया इतने के द्वारा प्राण कर्ण रूप में है आत्मा मुख्य आत्मा नहीं है कर्णत्व आत्मत्वार्थम होता है आत्मा के लिए प्राण है कर्ण जो होता है किसी उपलब्ध के लिए उपलब्ध उपलब्धता के उपलब्धि के लिए साधन होता है कर्ण ये होता है संज्ञानम इत्यादि बस इति अंतम संज्ञान से लेकर के बस तक जो सोलह है ये शब्द ये यदि अंतकरण वृत्ति द्वारा अंतकरण की वृत्ति है सारे ये उसके द्वारा तद व्यतिरिक्तम उस अंतकरण की वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति के दृष्टा वृत्ति से अतिरिक्त होगा तो तद व्यतिरिक्तम उपलब्धारम दर्शय महा उस वृत्ति से वृत्ति से अतिरिक्त जो उपलब्ध है वृत्ति का उपलब्धा वृत्ति देख रहा है जो वृत्ति को जान रहा है वृत्ति की जो उपलब्धा है उसको देखाने के लिए कहा इस वृत्ति के द्वारा भी उस वृत्ति की जो उपलब्धा होगा उसको बतलाना चाहते हैं इसके लिए कहा तद अंतकरण इत्यादि भाषा में कहा तद अंतकरण उपाधि स्थस्य उपलब्धु उस अंतकरण रूपी उपाधि में स्थित जो उपलब्धा है अंतकरण के साथ तादात्म करके बैठा हुआ है उपलब्धा तद वह जो अंतकरण पूर्वोक्त अंतकरण पूर्वम कहा यदि हृदय मनस्य इत्यादि अंतकरण कहा था जो अंतकरण उपाधिस्थ अंतकरण रूपी उपाधि में स्थित जो उपलब्ध आत्मा वो अंतकरण रूप उपाधि में बैठा हुआ जो उपलब्ध है आत्मा है उपलब्ध प्रज्ञान रूप से प्रज्ञान रूप है आत्मा उसका स्वरूप प्रज्ञान रूप है प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है वो तो ज्ञान स्वरूप है ऐसा आत्मा का ब्रह्म ऐसा प्रज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है बृहत्वाद ब्रह्म व्यापक है उपलब्ध अर्था उसी ब्रह्म की उपलब्धि के लिए कैसे कैसे जाना जाए ब्रह्म को तब कहते हैं या अंतकरण वृत्ति अंतकरण की वृत्ति से ही उसको जाना जाता है माने विषय नहीं करती वो किंतु वो अंतकरण की वृत्ति के साक्षी रूप से जाना जाता है ये नहीं कि अंतकरण की वृत्ति उसको विषय बना दे अभिषय ज्ञान हो बाह्यंतर विषय विषय अंतकरण की वृत्ति दो प्रकार के विषय को विषय करने वाली है बाह्य विषय को रूपादि को विषय करती है अंतर विषय सुखादि है सुख दुखादि भीतर के विषय है ये जो अंधकरण की वृत्ति के विशेषण है बाह्यांतरवर्ती विषय बाहर और भीतर रहने वाले दो प्रकार के विषय हैं एक बाहर रहने वाले विषय है उपाधि जगत और एक भीतर है सुखादि जगत सुख दुखादि भीतर की जगत है दो प्रकार के विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं बाह्यांतर वर्ती विषय विषय बाह्यांतरवर्ती जो विषय है दो प्रकार के विषय है बाह्य विषय भीतर के विषय ऐसे वो वृत्तियां दोनों को विषय करती है कभी सुखादि की वृत्ति सुखादि वृत्ति बनाएगी कोई रूपादि की वृत्ति बनाएगी ऐसे विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं ता इमाम वो वृत्तियां यह है सोलह है संज्ञान से लेकर के बसता ये कहे जाते हैं कहा है मैं कहेंगे इसको निर्विशेष से कथम वृत्ति विषयत्व ये प्रश्न आएगा आत्मा निर्विशेष है वृत्ति का विषय कैसे बनेगा वो अंधकार की वृत्ति का विषय कैसे बनेगा अंधकार की वृत्ति का विषय बनाना उसको कैसे बनाओगे ये प्रश्न है निर्विशेष कथम वृत्ति विषयत्व अन्यथा कथम तद उपलब्ध असम अगर वृत्ति का विषय नहीं होता है वो अन्यथा माने वृत्ति का विषय न होने पर कथम फिर कैसे तद उपलब्धता फिर वो उस आत्मा की उपलब्धि के लिए वृत्ति ताशा मैंने वृत्ति नाम कैसे वृत्ति बनेगी उसकी उपलब्धि के लिए अगर विषय नहीं बनता है वृत्ति का विषय नहीं बनता तो दो प्रश्न है निर्विशेष से कथम वृत्ति विषय तो आत्मा निर्विशेष वृत्ति का विषय कैसे होगा एक प्रश्न है दूसरा अन्यथा यदि वृत्ति का विषय नहीं मानोगे आत्मा तो फिर कथम किस कैसे तब उपलब्ध करता फिर उस आत्मा की उपलब्धि के लिए वो वृत्ति को कैसे मानोगे तो पूर्वाजी की शंका है कथम तो छह नंबर तो टिप्पणी है च इति शेष कथम च ऐसा होगा कैसे च शेष लगाने का तो इसके उत्तर में कहते हैं अरे बाबा उपलब्ध्यर्था या अंतकल्पयुक्त या ऐसा कहा माने जो उपाधि में पड़ा हुआ जो उपलब्ध है प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसको उपलब्धि के लिए है यह नहीं कि विषय नहीं बनाते हैं किसी प्रकार भी उसकी उपलब्धि हो जाती है वृत्ति के माध्यम से कैसा होगा वृत्ति के साक्षी रूप से उपलब्धि होगी ताकि वृत्ति उसको विषय बनाएंगे बाद में वृत्ति के साक्षी रूप से उस आत्मा की उपलब्धि होती है ये बोला था उपलब्ध्यर्था का हमने वृत्ति विषय नहीं बनाया क्या बनाया उपलब्धि के लिए कहा उपलब्धि के लिए विषय बनना कोई आवश्यकता नहीं अन्य प्रकार से हो सकता है ये बताया उपलब्ध ये ये बताया था बाह्यांतरवर्ती विषय कहा वो कैसे हैं वृत्ति दो विषय को विषय बनाने वाले वृत्ति हैं बाह्य विषय को विषय बनाते हैं और अंतर विषय को विषय बनाते बाह्य विषय रूपादि है जगत और अंतर विषय सुखादि है दोनों को विषय करते हैं अंतर्गत वृत्ति सुखाकार वृत्ति भी होती है दुखाकार वृत्ति भी होती है रूपाकार रसाकार वृत्ति भी होती है रूपाकार रसाकार वृत्ति बाह्य वृत्ति है बाह्य विषय को विषय कर रही है और सुखाकार वृत्ति अंतर विषय को विषय कर रही है दो प्रकार की वृत्तियां हैं एक कहा बाह्याम कल्पत्ति विषय प्रतीक के ऊपर में सात नंबर टिप्पणी किया बाह्य तथा च तत्व अनभिगमात न तस्य तत्व क्षति इसलिए उस वृत्ति के द्वारा स्वीकार स्वीकृत में जाना नहीं जाता वृत्ति के द्वारा हाँ, वो तो वृत्ति के विषय रूप से नहीं है साक्षी रूप से होगा इसलिए तत्व की क्षति नहीं होगी उस आत्मा की क्षति नहीं होगी वृत्ति का विषय नहीं स्वीकार किया है इसलिए उसकी क्षति नहीं होगी ये बता दिया ठीक है कहते हैं तरही तरी तासाम आत्मा अन्य विषय के यहां पर कुछ पाठ छूटा होगा तरी तासाम आत्मा अन्य अन्य विषय के आत्मा से भिन्न विषय यदि होता हो वृत्तियों का बाह्य वृत्ति और अंतर्वृत्ति सुखादि वृत्ति और रूपादि वृत्ति आत्मा को विषय यदि नहीं करती हो यह अर्थ होना चाहिए इसका तरी तब तो तासाम मान वृत्ति नाम जो अंतर्वृत्ति वृत्ति बन रही है आत्मा अन्य विषय पे तो आत्मा से भिन्न यदि विषय है उसका माने रूपादि बाह्य वृत्ति सुखादि आत्मा उसके विषय नहीं है यदि आत्मा से अन्य विषय मानने पर वृत्तियों का मानने पर तत्व बाह्यांतर विषय प्रतीति अवश्य उस स्थिति में फिर बाह्य और विषय और भीतर के विषय की प्रतीति होना चाहिए तो वृत्तियों के विषय यही बन गए बाह्य विषय आदि इन्हीं के ज्ञान होना चाहिए न आत्मा फिर आत्मा का ज्ञान नहीं होना चाहिए आत्मा को विषय नहीं कर रही वृत्ति तो फिर बाहर और भीतर के जो विषय है सुखादि या रूपादि उन्हीं का ज्ञान होगा वृत्ति के माध्यम से हाँ, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा फिर कैसे बोल दिया उस उपलब्धता के उपलब्धि के लिए अंतकरण की वृत्तियां कैसे बोले आप ये प्रश्न आएगा यही कहना चाहते हैं तरी जब विषय जब नहीं बनती है वृत्ति का विषय आत्मा नहीं बनता है तो तरी ताशाम आत्मा अन्य विषय आत्मा से भिन्न विषय मानने पर आत्मा से अन्य विषय क्या रूपादि बाह्य वृत्ति वृत्ति का कुछ रूपादि बाह्य विषय है कुछ अंतर विषय सुखादि है आत्मा से भिन्न विषय उनके मानने पर तो उस स्थिति में क्या होगा बाह्यांतर विषय प्रतीति देव उस स्थिति में तो फिर बाह्य और अंतर विषय की प्रतीति सुखादि की या रूपादि की आत्मा की प्रतीति तो नहीं होगी ना वृत्ति का विषय न बनने पर जो शंका है इसके उसने कहा उपलब्धर्था बोला हुआ है विषय नहीं बताया हमने आत्मा के आत्मा को विषय करती नहीं पा आत्मा की उपलब्धि के साधन का विषय न होने पर भी उपलब्धि करा सकते हैं दूसरे प्रकार से उपलब्धि हो जाती है एक कहते उपलब्धि अर्थात होगा आठ नंबर की टिप्पणी थी तत्व माने वृत्ति पर उस वृत्ति के द्वारा उस वृत्ति से क्या होगा बाह्य और अंतर विषय की प्रती होगी आत्मा की प्रती ने कहा आत्मा की प्रतीति हो जाएगी विषय विषयत्व प्रती न होने पर भी भिन्न प्रकार से प्रतीति होगी जब अंतकरण में वृत्ति बन रही है तो आत्मा है दृष्टा है आत्मा देख रहा है उसके विषयत्व नहीं एक कहना चाहते ठीक है निर्विशेषत्व अविषयत्व आत्मा निर्विशेष है इसलिए अंतकरण वृत्ति का विषय नहीं होता आत्मा निर्विशेष होने से निर्विषय है आत्मा वृत्ति का विषय नहीं होता क्यों निर्विषय कि कोई भी वृत्ति विषय बनाएगी विशेष को सविशेष को विषय करेगी निर्विशेष को विषय नहीं कर सकती कोई विशेष है नहीं क्या हुआ आकार क्या आकार बनाएगी सविशेष को तो बनाएगी आकार निर्विशेष होने से कहा निर्विशेषत्व ना अविषयत्व ना इसलिए अविषय हो गया आत्मा सिद्धांत कह रहे निर्विषयत्व ना अविषयत्व ना एक तो निर्विशेष है हाँ, और दूसरा अविषय भी है आत्मा इसलिए तस्य साक्षात इदम तया ज्ञान असंभव यतस्य आत्मा इस आत्मा का साक्षात इदम तय यह आत्मा है इसे ज्ञान न होने पर भी जैसे इदम सुखम ये सुख है ऐसा कहा जाता है इदम रूपम ये रूप है ऐसा इदम जो है ज्ञान होता है इस प्रकार आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा वृत्ति का विषय नहीं बनता निर्विशेषत्व अविषयत्व दो हेतु है एक तो निर्विशेष होने के कारण दूसरा अविषय होने के कारण यतस्य मैंने आत्मा में इस आत्मा का साक्षात इदम तया ज्ञान असम साक्षात इदम रूप से ज्ञान नहीं होगा निर्विशेष है पर भी संज्ञान आदि अंतकरण वृत्ति साक्षी का यही है संज्ञान अज्ञान विज्ञान आदि जो भी बोलेंगे इस अंतकरण की वृत्तियां हैं इसके साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान हो जाता है वृत्ति का विषय न होने पर भी हाँ, वृत्ति के साक्षी रूप से उपलब्धि उपलब्धि के लिए एक वृत्तियां कहा यह नहीं कि उपलब्धि विषय होता है आत्मा नहीं कहा वृत्ति का विषय होता नहीं बोला है ये संज्ञान आदि जो वृत्तियां हैं मन की वृत्ति किसके लिए आत्मा की उपलब्धि के लिए कहा उपलब्धि हो जाता है इस तरह से ये कहा ये कह रहे निर्विशेषत्व अभिषेक एक तो निर्विशेष है आत्मा दूसरे विषय भी नहीं बनता किसी का इसलिए एक साक्षात इदम तय एक मैंने आत्मा इस आत्मा का साक्षात इदम तया ज्ञान नहीं हो सकता फिर भी संज्ञान आदि अंतकरण वृत्ति साक्षर है जो संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान भेदा आदि बोलेंगे तो इस संज्ञान आदि जो अंतकरण की वृत्तियां हैं इसके साक्षी रूप से आत्मा उसको देख रहा है साक्षी रूप से साक्षी तया अविषयत्व नहीं बता से उपलब्धि संभव अविषयत्व ना उस आत्मा की उपलब्धि हो जाती उपलब्धि के लिए तो वृत्ति है क्यों उसके साक्षी वो वृत्ति को जान रहा है इसलिए ये हो जाएगा अविषय रूप से हो जाएगा ये बता अविषयत्वार्थम अविषयत्व के लिए प्रज्ञान रूप से विशेषण इसलिए कहा प्रज्ञान रूप से विशेषणों का ब्रह्मणो बोला हुआ है ब्रह्म का विशेषण लगा है प्रज्ञान रूप से ऐसा विशेषण लगा है भाष्यकार ने तद अंधकरण उपाधिस्त उपलब्धु प्रज्ञान रूप से ब्रह्म खाली ब्रह्मण नहीं बोला प्रज्ञान रूप से विशेषण लगाया हुआ इसे एक कहते हैं अभिषयत्वार्थम अभिषय दिखाने के लिए प्रज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कहा ये कहा प्रज्ञान रूप से विशेषण प्रज्ञान रूप से ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्मणा ष्ठी प्रज्ञान रूप से ष्ठी भाष्य में प्रज्ञान रूप से विशेषण दिया किसके लिए अभिषयत्व दिखाने नहीं तो विशेषण की क्या जरूरत है प्रकृष्टा ज्ञप्ति प्रज्ञान शब्द लगाते हैं यहां ज्ञान धातु से ल्यूट प्रत्यय भाव में है यहां प्रज्ञान ज्ञान धातु से लूट किया है प्र उपसर्ग है प्रकृष्टा ज्ञप्ति ज्ञप्ति ज्ञान ये तीन प्रत्यय तो भाव में प्रसिद्ध है इसलिए ज्ञान में भी ल्यूट प्रत्यय भाव में दिखाया प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही स्वप्रकाश चैतन्यम या प्रकृष्ट ज्ञप्ति ज्ञान माने स्वप्रकाश चैतन्य को प्रज्ञान कहा गया स्वयं प्रकाश जो चेतन है उसी का नाम है प्रज्ञान मान भाव में व्युत्पत्ति दिखाया प्रज्ञान शब्द का ये जो अंतकरण की वृत्ति के लिए प्रज्ञान शब्द बोला तो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वयं प्रकाश चेतन है वो यह अर्थ आएगा आत्मा प्रज्ञान शब्द में प्रकृष्टाध्यप्ति स्वप्रकाश चैतन्य स्वप्रकाश चैतन्य को प्रज्ञान कहा गया तस्य विषय तो वो अगर स्वयं प्रकाश चेतन यदि विषय होता है किसी को फिर स्वयं प्रकाश सब तो नहीं रहेगा पर प्रकाश से आ गया दूसरे को द्वारा प्रकाशित हो गया तस्य विषय तो स्वयं प्रकाश चेतन यदि विषय होता हो किसी का विषय मान्य पर स्व प्रकाश तो व्याहति स्वयं प्रकाश तो व्याघात हो जाएगा नष्ट हो जाएगा स्वयं प्रकाश क्या पर प्रकाश हो जाएगा तब तो इसलिए विषय नहीं हो सकता और स्वयं प्रकाश है अग्नि को प्रकाश करने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है उसे स्वयं प्रकाश है वस्तु जैसे आदित्य को प्रकाश करने किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है अन्य प्रकाश की वो स्वयं प्रकाश वस्तु है प्रज्ञानम प्रकृष्टा व्यक्ति प्रज्ञानम ऐसा अर्थ किया है प्रज्ञान शब्द में ल्यूट प्रत्यय भाव में है प्रकृष्ट ज्ञान को प्रज्ञान कहा स्वयं प्रकाश चेतन को प्रज्ञान शब्द कहा ये कहा तस्य विषय तो स्वयं प्रकाश चेतन भी यदि स्वयं प्रकाश होता हुआ फिर किसी का विषय बने होना मन दूसरे पर प्रकाशित होना वो तो स्वप्रकाशित व्याहति स्वप्रकाशित व्याघात नष्ट हानि हो जाएगी इसलिए पर प्रकाश से नहीं होगा दूसरे वृत्ति का विषय नहीं होता था ब्रह्मा यदि विशेषण निर्विशेषत्व और ब्रह्म का विशेषण प्रज्ञा कहा था क्या प्रज्ञान रूप से ब्रह्म ब्रह्म का जो विशेषण ब्रह्म क्यों दिया कहते हैं निर्विशेष सिद्धि के लिए ब्रह्म माने आत्मा बोलेगा तो सब विशेष विवश होता है ब्रह्म कह देने से निर्विशेष होगा व्यापक तत्व ब्रह्मा यदि विशेषणम निर्विशेषत्वार्थम निर्विशेष सिद्धि के लिए है वो प्रज्ञान कैसा निर्विशेष है दिखाने के लिए ब्रह्म का विशेषण कहा रहे सविशेषत्व ही तस् परिच्छेद न ब्रह्मत्व निशान यदि सविशेष होगा जिसके द्वारा वो विशेष बनेगा सविशेष में कोई ना कोई विशेष होगा तो विशेष बनाने वाला कोई वस्तु होगा उसके लिए सविशेष विशेष के साथ रहने वाले को सविशेष बोला जाएगा कोई ना कोई विशेष होगा उसमें ऐसा होने पर क्या परिचन्न हो जाता है जो आके बैठ गया उसको विशेष बनाने के लिए जो आया उसके द्वारा वस्तु परिचिन्न हो गया दो वस्तु हो गए वहां सविशेष में दो वस्तु होते हैं जिसके आने पर ये व्यक्ति विशेष हो जाता है वो तो होता है सविशेष ये सविशेष बनने के लिए कोई और आना पड़ेगा सविशेष होने के लिए तो जो एक आया तो एक ये है ये आया हुआ दो हो जाएगा सविशेष में विशेषेण सहित सविशेष विशेषेण सहित विशेष के साथ जो होगा उसको सविशेष बोलते हैं तो विशेष के साथ होगा तो दो व्यक्ति हो जाएंगे एक विशेष आया हुआ एक स्वयं दो हो जाएंगे दो होने से वस्तु परिचिन्न हो गया यही कहते हैं सविशेषत्व जो सविशेष होता है तो तस्य परिचय देना तो परिचय आ जाएगा वस्तु में तो आ जाएगा देश में तो भले ना आए काल में तो ना आए तो दो वस्तु हो गया ना इसको सविशेष बनाने के कोई एक आएगा तो सविशेष बनेगा विशेषेण सह वर्तते जैसे सपुत्र में एक होता है दो होता है दो पुत्रेण सहित सपुत्र वस्तु पर दिखता है इसी प्रकार सविशेष में भी यही होता है विशेषण सहित सविशेष विशेष के साथ है ये तो एक विशेष और ये एक दो हो गए वस्तु पर हो गया हो जाएगा इसलिए सविशेष नहीं मानते कहा सविशेषत्व ही तस्य ब्रह्म परिच्छेद ना वो जो सविशेष होगा वो उसका परिच्छेदक हो जाएगा ब्रह्मत्व न परिचिन्न होने से वस्तु परिचिन्न तो आ जाएगा फिर ब्रह्मत्व नहीं आएगा इसलिए भाष्य में कहा था प्रज्ञान से रूप से ब्रह्म उपलब्ध था कहा था ब्रह्म शब्द कहा था निर्विशेष दिखाने के लिए ब्रह्म कहा और प्रज्ञान शब्द इसलिए बोला है कि चैतन्य स्वरूप दिखाने के लिए ज्ञान स्वरूप दिखाने के लिए ऐसा कहा नौ नंबर की कहा ये न विशेषण विशिष्टम सविशेष में विशिष्ट बना हुआ है विशेषण सहित सविशेषण जिस विशेष के द्वारा ये विशिष्ट होगा ये व्यक्ति जिस जिसके कारण से विशिष्ट बना हुआ है तो इसमें जो दूसरा आया हुआ उसके साथ इसमें वस्तु परिचन्न हो जाए दो व्यक्ति हो गए वस्तु परिचन्न आ जाए तब तो एक कहा एक टिप्पणी कह रहे ये न विशेषण विशिष्टम तद भिन्न जिस विशेषण से विशिष्ट होगा उससे भिन्न होगा आया हुआ व्यक्ति से भिन्न होगा ये वस्तु परिचन्न आ गया इसलिए सविशेष नहीं है ब्रह्म निर्विशेष कहने के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया ये बताया आगे कहते हैं ननो असंग से कथम अंतकरण वृत्ति संबंध असंग आत्मा है फिर वृत्ति का संबंध कैसे होगा अंधकरण वृत्ति का संबंध कैसे दिखेगा असंग आत्मा में प्रश्न आया इसको उत्तर बताते हैं अरे बाबा वो असंग आत्मा ने अभी अंधकरण उपाधिष्ठ है उसी का नाम है सारी वृत्तियां अंधकरण अंतकरण में बैठा हुआ उपाधिष्ट अंतकरण की जो उपाधि उसमें स्थित आत्मा की चर्चा है संज्ञान प्रज्ञान आदि नाम इसका निर्विशेष आत्मा का नाम नहीं होता नाम रूप से रहित होता होता तो ये संज्ञान आदि नाम जो दिया गया है माने अंतकरणस्थ चेतन का नाम ऐसे उपाधि का फल यही होता है भाष्य में कहा था तब अंतकरण उपाधिस्थ से उपलब्ध अंतकरण में स्थित उपलब्ध उपाधि में स्थित ही उपलब्धता होता है विषय को उपलब्ध करने वाला उपलब्ध अंतकरणस्थ होता है उपाधि में स्थित आत्मा का और मुख्य रूप से प्रज्ञान रूप है वो तो उपलब्धि काल में अंतकरणस्थ होकर के उपलब्ध कर रहा है ठीक है हम कहते हैं असंग से आदि अंतकरण वृत्ति प्रतिबिंब द्वारा असंग है आत्मा फिर भी अंतकरण की वृत्ति में उसके प्रतिबिंब पड़ने के कारण आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ असंग का असंग से आदि अंतकरण वृत्ति प्रतिबिंब द्वारा असंग आत्मा का आदि अंतकरण के वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने के कारण से तो वृत्ति में चेतन का चैतन्य दिख रहा है तब वृत्ति संबंध है इसलिए उसके उसका वृत्ति के साथ संबंध दिखाई पड़ा मैंने प्रतिबिंब रूप से उसमें संबंध है मुख्य रूप से एक कहा आगे संज्ञान आदि का अर्थ करते हैं भाष्य में कहा संज्ञानम संज्ञप्ति चेतन भाव कहा संज्ञान में संपूर्ण ज्ञान धातु से युग प्रत्यय भाव में है इसी का अर्थ संज्ञप्ति बोला तीन प्रत्यय तो भाव में प्रसिद्ध है तो संज्ञान शब्द का अर्थ संज्ञप्ति माने चेतन भाव चैतन्य दिखाई पड़ता है चेतना शरीर में चेतना चेतन भाव दिखता है चेतना के कारण वो संज्ञान आज्ञान मैंने अज्ञप्तिर अज्ञप्तिर ईश्वर भाव आज्ञान का अर्थ है अनुपूर्व ज्ञान हाथ है वहां भी वो लूट है कोई ज्ञानी है वो ईश्वर भाव ईश्वर भाव माने योगानुष्ठान जनित विशेष ज्ञान ईश्वर भाव विशेष ज्ञान है अज्ञान का अर्थ योगानुष्ठान से जनित विशेष ज्ञान होगा या बैठे बैठे कहीं का भी प्रत्यक्ष कर लेता है योगानुष्ठान जनित ऐसे ही ज्ञान होता है योग ज्ञान ऐसा होता है प्रत्यक्ष होता है योग प्रत्यक्ष बम्बई में क्या हो रहा अभी अभी घटता यहां दिखाई पड़ेगा उसको हमारी इंद्रिय वहां पहुंचती नहीं हमारी तो संबद्धम वर्तमान गृहते चक्षुरादिना ऐसा है वदनाचार्य ने समझा है माना संबद्ध हो इंद्रिय संबद्ध हो वर्तमान हो विषय तभी प्रत्यक्ष होगा चक्षुरादि की तरफ गृहित होगा क्योंकि योगज प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं हो उनके इंद्रिय वहां तक पहुंच जाती है विदेश क्या हो रहा अब ऐसा हो गया बोल देंगे वास्तव में योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ऐसा है तो आज्ञान का अर्थ योगज ज्ञान योग संबंधी ज्ञान को आज्ञान कहा योगानुष्ठान जनित ज्ञान जो अष्टांग योग जिसका सिद्ध हुआ होगा उसको ऐसे अणिमा गरिमा आदि ऐसे सिद्धियां आ जाती है और विज्ञान माने कलादि परिज्ञान जो तो चौसठ कलाएं जो होते नृत्य का वाद्य आदि जो भी कलाएं हैं उसको विज्ञान शब्द ने कहा विज्ञान का अर्थ कला तत्त कला जो तो चौसठ कलाएं मानी गई है वो क्या मन की वृत्तियां सब ये और प्रज्ञान मन प्रज्ञप्ति प्रज्ञता मैंने तात्कालिक एक प्रतिभा प्रज्ञान का तात्कालिक स्फूरित होता है किसी को किसी को सोचना पड़ता है ऐसा बोलता तो अच्छा था बोलता बात नहीं उस समय स्फूरित नहीं होता किसी को तात्कालिक स्फूरित हो जाता है उसके पास एक प्रतिभा है तात्कालिक प्रतिभा उसका नाम प्रज्ञान है जो प्रज्ञान सब है और ये वृत्ति रूप में आया वो प्रज्ञान प्रज्ञप्ति प्रज्ञान में प्रज्ञप्ति प्रज्ञता माने तात्कालिक एक प्रतिभा ये प्रज्ञान शब्द का अर्थ है वृत्ति मेरा माने ग्रंथ धारण सामर्थ्य मेरा शब्द करता ग्रंथ के धारण की शक्ति विशेष जो बुद्धि में एक शक्ति विशेष है क्या कहा ग्रंथ में उसको धारण करने की शक्ति है बाकी दूसरे भूल जाते हैं वो भूलता नहीं उसका तात्पर्य समझ के बैठा बैठने की एक शक्ति किसी किसी में होती है सब में मेधा का अर्थ ग्रंथ धारण सामर्थ्य ग्रंथ के धारण करने के सामर्थ्य है दृष्टि आया उसके बाद माने इंद्रिय द्वारा सर्व विषय उपलब्ध मतलब दृष्टि शब्द का अर्थ वेदा के आगे दृष्टि शब्द है अंतर्गत वृत्ति है माने इंद्रियों के माध्यम से सभी विषयों की उपलब्धि को दृष्टि कहा सर्व विषय उपलब्धि दो की टिप्पणी सन्निकट से जन्य वृत्ति विषय और इंद्रिय से के संबंध से होने वाली जो वृत्ति है जैसे चक्षु का रूप के साथ संबंध होने पर रूपाकार वृत्ति बनेगी ऐसा ये दृष्टि शब्द कहती है आगे धृति आया धारणा धारण करना यही है धृति का अवसन्ना शरीर इंद्रियाणाम यया उत्तम होना भवती कहते शिथिल हुए शरीर और इंद्रिया जितने भी इंद्रिया शिथिल हो जाती है शरीर शिथिल हो जाता है जिस तत्व से हम उसको उठाते हैं ऊपर धारण करते हैं खड़ा रखते हैं गिरने नहीं देते हैं वो तो गिरने की तैयारी में है उसी का नाम धृति है अंतकरण एक वृत्ति है जिस वृत्ति से धारण होता है धृतिर मान धारणम अवसन्नान अवसन्न माने क्या है सदरी विसरण गति अवसाधन से सदरी धातु है उसी का अर्थ करते हैं टिप्पण तीन नंबर में शिथिलाना अवसन्न शब्द है शिथिल हो गए शिथिलाना माने पतनोन्मुखाना गिरने की तैयारी है कभी कभी शरीर ऐसे शिथिल हो जाता है फिर भी धारण हो जाता है किसको अंतकरण एक वृत्ति है सामर्थ्य है जिसका नाम है धृति होती यह उत्तम जिस वृत्ति को है इसको उत्तम विद करे जाता है रोका जाता है गिरने नहीं दिया जाता है उत्तम बनम कार्य मान उद्वहनम उत्तम बनोगा उद्वहन होता है पतना भाव संपादनम गिरने के गिरने जो पतन था उसका अभाव का संपादन होता है जिस, जिसके कारण वो अंतकरण की वृत्ति है जिसका नाम है धृति ये बता रहा धृत्या शरीरम उद्वहंती दी बदंती लोग बोलते हैं कहते हैं धृति के द्वारा शरीर को धारण करते हैं नहीं तो शरीर गिर जाता यदि धृति न होता न होती तो ऐसा लोग कहते हैं धृत्या शरीरम उद्वहंती इति ही बदंती ऐसा लोग बोलते हैं लोग भी कहते हैं धृत्या शरीरम उद्वहंती ऐसा बोलते हैं धृति के द्वारा ही शरीर को धारण करते हैं लोग ऐसा बोलते हैं मतिर माने मननम मति शब्द आया धृति के बाद मनन करना मनन माने क्या तो आज की टिप्पणी कहा आदि आलोचना संसद आदि का कार्य का विचार करना क्या पास करना क्या नहीं करना क्या इसको मति कहा बुद्धि चाहिए वहां मनीषा तत्र स्वातंत्र मनीषा माने मनन में जो स्वतंत्रता है उसको मनीषा बोलते हैं मनन करने में हाँ, विचार करने में स्वतंत्रता को मनीषा बोला है वो भी वृत्ति है ज्यूति माने चेतस और रुजादि दुखित्वा भाव माने जूति का अर्थ होता है चित्त में जो रोग आदि के कारण से दु, दुखित्व आ जाता है दुखी हो जाता है रोग आदि के कारण से दुखी हो जाना दुखाकार वृत्ति बन जाना यह है जूति स्मृति माने मतलब स्मरण स्मृति से बताकर स्मरण याद करना है पूर्वोक्त अनुभव का आज याद होना स्मरण है मन की वृत्ति है संकल्प शुक्ल कृष्ण आदि भाव है ना संकल्पम ये सफेद है ये काला है इत्यादि भाव से विचार करना ये संकल्प है सम्यक कल्प संकल्प ये सफेद है ये काला है इत्यादि ये पीला है ये लाल है इत्यादि विचार करना ये संकल्प है रूपाधीनों जो रूपाधीनों के विषय में ये सफेद रूप है ये कृष्ण रूप है ये रक्त रूप है हरित रूप है इत्यादि विचार करना ये वस्तु अमुख है ये विचार करना यही संकल्प है क्रतुर माने अध्यवसाय क्रतु शब्द का निश्चय करना अध्यवसाय छह की टिप्पणी में कहा अद्यवसाय मैंने इदम अहम अवश्यम करिष्याम ये कार्य मैं जरूर करूंगा ऐसा निश्चय करूं इसको क्रतु कहा वृत्ति है वो अशु माने प्राणादि जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति अशु का अर्थ एक अंतकरण की वृत्ति है एक जीवन योनि प्रयत्न मानते हैं एक लोग प्राण क्रिया निरंतर चल रहे ऊपर कुछ न कुछ आपका प्रयत्न चलता है किंतु आपको भी पता नहीं है तो जीवन का कारण है अगर वो प्राण के लिए प्रयत्न आप नहीं करते हैं प्रयत्न आप ही में होना है माने वो नैयायिक के माध्यम से आत्मा में ही प्रयत्न होगा नैयायिक के माध्यम से क्योंकि वेदांति के माध्यम में मन की वृत्ति हो निरंतर प्राण को ऊपर ले जाना नीचे ले जाना एक काम चल रहा है अपने आप नहीं होता है तो आपकी मन काम कर रहा है वृत्ति बन रही है जिसको नैयायिक जीवन में प्रयत्न बोलते हैं तो सुसूत्र में भी चलता है जीवन के कारण है वो प्रयत्न तीन प्रकार के प्रयत्न मानते हो एक स्थितिथापक और जीवन योगी तीन तीन प्रकार के प्रयत्न अच्छा यह है प्रयत्न आगे काम माने असन्निहित विषय है तृष्णा काम का अर्थ तृष्णा तो सन्निहित नहीं है विषय उसकी इच्छा ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा पास में नहीं विषय दूर में है ऐसे विषयों के इच्छा विशेष को काम कहा बस अंतिम है बस स्त्री व्यतिकर आदि अभिलाष मान स्त्री आदि की इच्छा स्त्री पुरुष को चाहती है पुरुष स्त्री को चाहती है परिवार आदि चाहना ये बस शब्द से बस काम तो धातु है इच्छा अर्थ में है इतव वाद्य ये सब के सब अंतकरण वृत्ति ये सोलह हैं ये अंतकरण की वृत्तियां से आ रही है संज्ञान से लेकर के बस तक सोलह हैं अंतकरण की वृत्तियां वृत्तियां प्रज्ञप्ति मात्र से उपलब्ध उपलब्ध प्रज्ञप्ति मात्र जो ब्रह्म है उपलब्धा तत्त विषयों की उपलब्ध करने वाला उपलब्धा ब्रह्म है उसकी उपलब्धि के लिए वृत्तियां हैं माने वृत्ति के साक्षी रूप से उसकी उपलब्धि होती है वृत्ति विषय नहीं बना सकती उसको किंतु वृत्ति के दृष्टा है साक्षी है ये सोलह है ये इतने पमाते और भी सारे कई वृत्तियां यहां पर गिना दिया सामान्य रूप से अंतकरण वृत्ति जितने भी अंतकरण में वृत्तियां बनती है प्रज्ञप्ति मात्र से जो प्रज्ञप्ति स्वरूप ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है चेतन स्वरूप जो ब्रह्म है इस ब्रह्म का वो जो उपलब्धि उपलब्धा है उसका उपलब्ध अर्थत्व उनके उसके उपलब्धि के लिए होने के कारण माने उपलब्धि के साधन है माने ये वृत्तियां हैं तो ब्रह्म है करके पता लगता है जो वृत्ति को देख रहा है वो ब्रह्म है ऐसा ज्ञान होगा उपलब्धता शुद्ध प्रज्ञान रूप से ब्रह्मण उपाधि होता है इसे शुद्ध जो प्रज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के उपाधि है ये इसी उपाधि के माध्यम से उसको जाना जाता है उपाधि होता है तब उपाधि जनित गुण नाम रही इसलिए उपाधि के उत्पन्न गुण है नाम है उसी का नाम माना जाएगा तो ब्रह्म का ही नाम माना जाएगा तब मैंने वो तो जो ब्रह्म है उसके उपाधि जनित उस उपाधि के द्वारा उत्पन्न जो वृत्तियां हैं उपाधि है सभी नाम जनित गुणा गुण नाम नहीं मुख्य नाम तो नहीं हो सकते गौण नाम है मुख्य तो अनाम अरूप है नाम रूप से रहित है गौण नाम भवंती संज्ञानादिनी भवंती संज्ञानादि संज्ञानादि नाम रेयानी भवंती नाम हो जाते हैं ऐसा कहा समय हो गया है टीका फिर देखें ओम भांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचे प्रतिष्ठिता आनेस्त प्रकाशी कृतम सत्यम वदिष्यामि तन्मावतु सर्वतारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ